सूत जी ने कहा विप्रों योग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले उस संपूर्ण कुर्म पुराण को मैंने आप लोगों को बतलाया जिसे गदाधर कुर्म भगवान ने कहा था पहले इस पुराण में संपूर्ण प्राणियों को मोहित करने के लिए लक्ष्मी की उत्पत्ति तथा वासुदेव के साथ उनके संयोग का वर्णन किया गया है तदंतर प्रजापतियों की सृष्टि वर्णों के धर्म और उनकी वृत्तियों का वर्णन तथा धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष के शुभ लक्षणों का यथावत वर्णन किया गया है इसमें पितामह ब्रह्मा विष्णु तथा धीमान महेश्वर के एकत्व पृथकत्व और वैशिष्ट का वर्णन हुआ है भक्तों के लक्षण तथा सुंदर सदाचार को कहा गया है साथ ही वर्णों तथा आश्रमों के लक्षणों को शास्त्रानुसार बतलाया गया है तदंतर आदि सर्ग पुनः सात आवरण युक्त ब्रह्मांड का वर्णन हुआ है मुनि श्रेष्ठों फिर हिरण्य गर्भ सर्ग कहा गया है काल गणना का विवरण ईश्वर का महात्म्य ब्रह्मा का जल में शयन तथा भगवान के नामों की निरुक्ति का वर्णन हुआ है विष्णु द्वारा वाराह शरीर धारण कर भूमि पृथ्वी के उद्धार करने का भी इसमें वर्णन हुआ है तदंतर पहले मुख्य सर्ग आदि एवं पुनः मुनि सर्ग बताया गया है इस पुराण में रुद्र सर्ग ऋषि सर्ग ताप सर्ग तथा तामस सर्ग से पहले धर्म का प्रजा सर्ग बताया गया है ब्रह्मा एवं विष्णु के विवाद और परस्पर एक दूसरे के देह के अंतर्गत प्रविष्ट होने ब्रह्मा से कमल के उत्पन्न होने और धीमान देव ब्रह्मा के मोह का इस पुराण में वर्णन हुआ है तत्पश्चात ब्रह्मा द्वारा महेश का दर्शन करने विष्णु द्वारा कहे गए उनके महात्म्य और परमेष्ठी ब्रह्मा को दिव्य दृष्टि प्रदान करने का वर्णन हुआ है परमेष्ठी ब्रह्मा द्वारा देवाधिदेव महेश्वर की स्तुति प्रसन्न होकर गिरीश द्वारा अनुग्रह तथा वर प्रदान करने का भी वर्णन हुआ है विष्णु के साथ महात्मा शंकर के संवाद पिनाकी द्वारा वर प्रदान करने और उनके अंतर्ध्यान होने का वर्णन हुआ है विप्रों इसमें प्राचीन काल में हुए मधु कैटब के वध का तथा देव विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा के अवतार का वर्णन हुआ है तदंतर विष्णु से देव ब्रह्मा के एक ही भाव को कहा गया है और ब्रह्मा का मोहित होना तदंतर हरि से चेतना प्राप्ति को बताया गया है तदुपरांत धीमान देवाधिदेव की तपश्चर्या का वर्णन है और फिर उनके ब्रह्मा के मस्तक से महेश्वर के प्रादुर्भाव का वर्णन किया गया है रुद्रों की सृष्टि करने करने पर ब्रह्मा के द्वारा उनके प्रतिषेध का वर्णन हुआ है देवाधिदेव शंकर के ऐश्वर्य एवं ब्रह्मा को वरदान और उपदेश देने का वर्णन हुआ है इसके पश्चात रुद्र के अंतर्धान होने ब्रह्मा की तपश्चर्या देवाधिदेव के दर्शन और उनके नर नारी शरीर धारण करने का वर्णन किया गया है देवादिदेव पिनाकी से देवी सती के अलगाव का कथन हुआ है और फिर देवी का दक्ष पुत्री के रूप में जन्म लेने का वर्णन हुआ है देवी की हिमवान की पुत्री होना और उनके महात्म का वर्णन किया गया है तथा उनके दिव्य रूप के दर्शन और विश्व रूप के दर्शन का वर्णन हुआ है तदुपरांत स्वयं पिता हिमालय द्वारा कहे गए देवी के सहस्त्र नाम महादेवी के द्वारा उपदत्त उपदेश और वरदान का भी वर्णन हुआ है भृगु आदि ऋषियों का प्रजा सर्ग राजाओं के वंश का विस्तार दक्ष के प्रचेता के पुत्र होने और दक्ष यज्ञ विध्वंस का वर्णन हुआ है श्रेष्ठों तदंतर दधीच और दक्ष के विवाद को बतलाया गया है फिर मुनियों को शाप का वर्णन हुआ है तदुपरांत रुद्र के आगमन एवं अनुग्रह और उन पिनाकी रुद्र के अंतर्ध्यान होने तथा दक्ष की रक्षा के लिए पितामह द्वारा उपदेश करने का वर्णन हुआ है तदुपरांत दक्ष के तथा महात्मा कश्यप से होने वाली सृष्टि का वर्णन है हिरण्यकश्यप के नष्ट होने तथा हिरण्याक्ष के वध का वर्णन हुआ है इसके बाद देवदारु वन में निवास करने वाले मुनियों की शाप प्राप्ति का कथन है अंधक के निग्रह और उसको श्रेष्ठ गाढ़पत्य पद प्राप्त करने का वर्णन हुआ है तदंतर प्रहलाद के निग्रह बलि के बांधे जाने त्रिशूली शंकर द्वारा बाणासुर के निग्रह और फिर उस पर कृपा करने का वर्णन हुआ है इसके पश्चात ऋषियों के वंश का विस्तार तथा राजाओं के वंश का वर्णन हुआ है और फिर स्वेच्छा से वसुदेव के पुत्र के रूप में हरि विष्णु की उत्पत्ति का वर्णन है उपमन्यु का दर्शन करने और तपश्चर्या करने का वर्णन है तत्पश्चात अंबा सहित त्रिलोचन महादेव का दर्शन कर वर प्राप्त करने का वर्णन हुआ है तदंतर श्रांगी कृष्ण का कैलाश पर जाने और वहां निवास करने का वर्णन है फिर द्वारवती निवासियों के भयभीत होने का वर्णन है इसके बाद महाबलशाली शत्रुओं को जीतकर गरुड़ के द्वारा द्वारका वासियों की रक्षा करने नारद आगमन और गरुड़ की यात्रा का वर्णन हुआ है तदंतर कृष्ण के आगमन मुनियों के आने और वासुदेव विष्णु द्वारा नित्य किए जाने वाले शिव लिंगार्चन का वर्णन है तदुपरांत मुनि मार्कंडे जी द्वारा लिंग के विषय में प्रश्न करने तथा वासुदेव द्वारा लिंगार्चन के प्रयोजन और लिंगी शंकर के लिंग के स्वरूप का निरूपण हुआ है मुनि श्रेष्ठों फिर ब्रह्मा तथा विष्णु के मध्य ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव तथा उसके वास्तविक स्वरूप का वर्णन हुआ है तदुपरांत उन दोनों के मोहित होने तथा लिंग का परिणाम जानने के लिए ऊर्ध्वलोक एवं अधोलोक में जाने पुनः परमेष्ठी देवादिदेव महादेव की स्तुति करने और उनके द्वारा अनुग्रह प्रदान करने का वर्णन हुआ है द्वियोत्तमो तदंतर लिंग के अंतर्ध्यान होने और फिर सांब तथा अनुरुद्ध की उत्पत्ति का वर्णन हुआ है तदुपरांत महात्मा कृष्ण का अपने लोक जाने का निश्चय ऋषियों का द्वारिका में आगमन कृष्ण द्वारा उन्हें उपदेश तथा वरदान देने का वर्णन किया गया है इसके अनंतर कृष्ण का स्वधाम गमन अर्जुन द्वारा कृष्ण द्वैपायन का दर्शन एवं उनके द्वारा कहे गए सनातन युग धर्मों का वर्णन हुआ है आगे अर्जुन के ऊपर व्यास द्वारा अनुग्रह और पराशर पुत्र अद्भुत कर्मा व्यास मुनि का वाराणसी में जाने का वर्णन है तदुपरांत वाराणसी महात्म तीर्थों का वर्णन व्यास की तीर्थ यात्रा और देवी के दर्शन करने का वर्णन है साथ ही देवी द्वारा वाराणसी से व्यास के निष्कासन और वरदान देने का वर्णन हुआ है ब्राह्मणों तदंतर प्रयाग का महात्म पूर्ण क्षेत्रों का वर्णन तीर्थों का महान फल और मार्कंडे मुनि के निगमन का वर्णन है इसके पश्चात भुवनों के स्वरूप ग्रहों तथा नक्षत्रों की स्थिति और वर्षों तथा नदियों के निर्णय का वर्णन किया गया है पर्वतों तथा देवताओं के स्थानों दीपों के विभाग तथा श्वेत द्वीप का वर्णन किया गया है महात्मा केशव के शयन उनके महात्म्य मनवंतरों और विष्णु के महात्म का निरूपण हुआ है मुनि श्रेष्ठों तदंतर वेद की शाखाओं का प्रणयन व्यासों का नाम परिगणन और अवेद वेद वाह्य सिद्धांतों तथा वेदों का कथन किया गया है इसके अनंतर योगेश्वरों की कथा उनके शिष्यों का वर्णन और ईश्वर संबंधी अनेक गुह्य गीताओं का उल्लेख हुआ है तदंतर वर्णों और आश्रमों के सदाचार प्रायश्चित विधि रुद्र के कपाली होने और उनके भिक्षा मांगने का वर्णन हुआ है द्विजों इसके बाद पतिव्रता के आख्यान तीर्थों के निर्णय और मनकड़क मुनि के निग्रह करने का उल्लेख हुआ है ब्राह्मणों तदंतर संक्षेप में काल के वध और शंकर तथा विष्णु के दारु वन में प्रवेश करने का उल्लेख है छह कुलों में उत्पन्न ऋषियों द्वारा धीमान देवाधिदेव के दर्शन करने और महादेव द्वारा नंदी को वरदान देने का वर्णन हुआ है इसके बाद नैमित्तिक प्रलय कहा गया है और फिर आगे प्राकृत प्रलय एवं सबीज योग बतलाया गया है इस प्रकार संक्षेप में इस कुर्म पुराण को जानकर जो इसका उपदेश करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है इतना कहकर कुर्म रूप का परित्याग कर देवी लक्ष्मी के साथ पुरुषोत्तम विष्णु अपने धाम को चले गए द्विजों सभी देवता तथा मुनिगण भी परम पुरुष विष्णु के उपदेश रूपी अमृत को प्राप्त कर तथा उन्हें प्रणाम कर अपने-अपने स्थानों को चले गए यह श्रेष्ठ कुर्म पुराण कुर्म रूपधारी विश्व योनि साक्षात देवों के आदि देव विष्णु द्वारा कहा गया है जो मनुष्य एकाग्रचित्त से नियम पूर्वक इस पुराण को पढ़ता है वह सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है जो पुरुष शास्त्र अनुसार व्रतनिष्ठ होते हुए इस पुराण को लिखकर वैशाख मास में वेदज्ञ ब्राह्मण को दान करता है उसका पुण्य सुनो वह सभी पापों से रहित और सभी ऐश्वर्य से संपन्न होते हुए मृत्यु के बाद स्वर्ग में प्रचुर मात्रा में दिव्य तथा सुंदर भोगों का उपभोग करता है तत्पश्चात स्वर्ग से इस लोक में आकर ब्राह्मणों के वंश में उत्पन्न होता है और पूर्व संस्कारों की महिमा के कारण ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लेता है इस पुराण के एक ही अध्याय के पाठ करने से सभी पापों से मुक्ति प्राप्त होती है और जो इस अर्थ पर ठीक-ठीक विचार करता है वह परम पद प्राप्त करता है श्रेष्ठ द्विजों ब्राह्मणों को प्रत्येक पर्व पर महापातकों का नाश करने वाले इस पुराण का नित्य अध्ययन एवं श्रवण करना चाहिए एक ओर सभी इतिहास पुराणों को शास्त्रीय विचारणा की कसौटी पर रखा जाए और दूसरी ओर अकेले इस श्रेष्ठ कुर्म पुराण को रखा जाए तो यही अपेक्षाकृत अतिशय विशिष्ट सिद्ध होगा जो व्यक्ति धर्म में निपुणता प्राप्त करना चाहते हों और जो ज्ञान में निपुणता प्राप्त करने के अभिलाषी हों उनके लिए एकमात्र इस पुराण को छोड़कर और कोई दूसरा श्रेष्ठ उपाय नहीं है सुब्रतों इस पुराण में जिस प्रकार से भगवान हरि नारायण विष्णु का कीर्तन हुआ है वैसा अन्यत्र नहीं है यह पौराणिकी ब्राह्मी संहिता पापों का नाश करने वाली है इसमें परब्रह्म का यथार्थ रूप से कीर्तन किया गया है यह तीर्थों में परम तीर्थ तपों में परम तप ज्ञानों में परम ज्ञान और व्रतों में परम व्रत है इस शास्त्र का अध्ययन वृषल धार्मिक व्यक्ति के समीप नहीं करना चाहिए जो अध्ययन करता है वह अज्ञानी है वह बहुत से नरकों को प्राप्त करता है द्विजातियों के श्राद्ध अथवा देव कार्य में इस ब्राह्मी संहिता कुर्म पुराण को सुनाना चाहिए यज्ञ की पूर्णता पर विशेष रूप से इसका पाठ करने एवं श्रवण करने से सभी दोषों से शुद्धि हो जाती है मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा करने वालों को विशेष रूप से वेद के अर्थ का विस्तार करने वाले इस शास्त्र का श्रवण अध्ययन तथा मनन करना चाहिए इसका ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त कर भक्ति युक्त श्रेष्ठ ब्राह्मणों को इसे सबको सुनाना चाहिए इससे वह व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करता है जो व्यक्ति श्रद्धा रहित तथा अधार्मिक पुरुष को इसका उपदेश देता है वह परलोक में जाकर नरकों का भोग भोगकर पुनः मृत्यु लोक में कुत्ते की योनि में जन्म लेता है संसार के मूल कारण सनातन हरि विष्णु तथा कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को नमस्कार करके इस शास्त्र पुराण का अध्ययन करना चाहिए अमित तेजस्वी देवाधिदेव विष्णु और पराशर के पुत्र महात्मा विप्रश व्यास की ऐसी आज्ञा है नारायण से इस दिव्य संहिता को सुनकर भगवान नारद ऋषि ने पूर्व काल में गौतम को इसका उपदेश दिया था और उनसे पराशर को यह शास्त्र प्राप्त हुआ मुनीश्वरों भगवान पराशर ने भी गंगा द्वार हरिद्वार में धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष रूप चतुर्विध पुरुषार्थ को देने वाले इस पुराण को मुनियों से कहा पूर्व काल में धीमान सनक और सनत कुमार को सभी पापों का नाश करने वाले इस शास्त्र का उपदेश ब्रह्मा ने दिया था सनक से योग ज्ञानियों में श्रेष्ठ साक्षात भगवान देवल ने और देवल से पंचशिख ने इस उत्तम शास्त्र को प्राप्त किया सत्यवती के पुत्र भगवान व्यास मुनि ने सभी अर्थों का संचय करने वाले इस श्रेष्ठ पुराण को सनत कुमार से प्राप्त किया उन व्यास को सुनकर मैंने आप लोगों से पापों का नाश करने वाले इस पुराण को कहा है आप लोगों को भी धार्मिक व्यक्ति को इसका उपदेश प्रदान करना चाहिए पराशर जी के पुत्र सर्वज्ञ गुरु शांत तथा नारायण स्वरूप महर्षि व्यास को नमस्कार है जिनसे संपूर्ण संसार की उत्पत्ति होती है और जिनमें यह सब लीन हो जाता है उन देवताओं के स्वामी कुर्म रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है इति श्री कुर्म पुराणे खट सहस्रायाम संहितायाम पर विभागे चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः इति श्री कुर्म पुराणम समाप्तम हरि ओम